सज्जनों के सहयोग से हम इस कार्य को कर पाए आज हम अनेक बातों को ध्यान से सुनेंगे अपने जीवन के संबंध में राष्ट्र के जीवन के संबंध में हम कुछ निर्णय लेके चले मनुष्य जीवन की अपनी विशेषताएं हैं उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है उसकी करनी और कथनी में एकता आपने समझा सुना कि जाति देश काल समय अनुवाचिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम ऋषि ने कहा हे व्यक्ति अपने जीवन को यदि सफल बनाना है अंतिम चरम लक्ष्य पर पहुंचना है तो आपको सर्वथा सर्वदा सब प्रकार से इन यमों का पालन करना पड़ेगा मनुष्य जाति मनुष्य समुदाय आज इन यमों को प्राय ठुकरा चुका है इनके इतना विपरीत आचरण है कि मानव जीवन निश्चित रूप में ध्वंस हो गया है और नष्ट होता चला जा रहा है इसको रोका भी नहीं जा सकता यदि रोका जा सकता है तो एक ही उपाय है इसके अंदर परिवार समाज राष्ट्र पूरा विश्व यमों को प्रथम स्थान देंगे सुनना सरल है कहना भी सरल है लिखना भी सरल है बड़ी बड़ी व्याख्या लिखी जा सकती है पर इन यमों का पालन करना मौत को बुला करके अपने पास ले आना व्यक्ति बुद्धि से सोचता है वो समझता है कि भाइयों सत्य बोला करो सत्य ही व्यवहार करो मंच पर यह रट्टा लगाता हुआ स्वयं बुद्धिपूर्वक व्यवहार में झूठ बोलता इतनी चालाकी की भाषा चलती है कि व्यक्ति का विश्वास खो दिया अब धर्म के उपदेश क्या करेंगे ये लेखनी क्या करेगी ये पत्रिकाएं क्या करेंगी समाचार पत्र क्या करेंगे आप भी अनुभव कर सकते हैं समाचार पत्रों में पढ़ो पत्रिकाओं में पढ़ो पढ़ते ही वैद्य है डॉक्टर है विद्वान है और कोई व्यवसाय वाला है एकदम आपके हृदय को छुएगा विचार ये बड़ा चालाक व्यक्ति है लिखता कुछ है इसके अंदर और इतना ही नहीं ये रोग भयंकर दोष घर में आ घुसा पति पत्नी में आया भाई बहन में आया गुरु शिष्य में आया समाजों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और हेतु दिया जाता है कि जिस झूठ से लाभ होता हो वो बोला करो विद्वानों से बात नहीं पूछ रहा हूं साधकों से पूछूं ये बात ठीक है ना जहां लाभ होता वहां झूठ बोलना चाहिए चलो हाथ खड़ा कर लो हां डरे हुए हैं इसलिए नहीं तो दूसरी जगह होते तो ये कर देते जब हम सत्य की व्याख्या करते हैं जोर देते हैं तो झूठ बोलने वालों का आग लग जाती आप स्वभाव से देखना ध्यान देना हम तीव्रता से झूठ का खंडन करते हैं लेखनी हो मौखिक हो आचरण हो और झूठ बोलने वाला जो जन समुदाय है वो आग में झुलसने लगता है अरे की आग उसकी भड़क क्यों ये व्यक्ति यदि सत्य का मंडन करते रहे और झूठ का खंडन करते रहे तो हमारा तो कहीं ठिकाना रहेगा नहीं ये बेचारे रो रहे हैं बन गया सत्यवादी <laughs> उल्टा करना उसमें सारा गजारा ये बीमारी इतनी भयंकर है हेतु दिए जाते हैं हेतुआभास होते हैं अब मैंने जो प्रश्न उठाया ये हेतु दिया जाता है कि जिस झूठ से लाभ होता हो बोला करो अच्छा मैं सीधा पूछू आप बोलते या नहीं बोलते बोलो अच्छा अब आप ये बताओ अब भी बोला करोगे आप छोड़ दोगे प्रयोग करते जाइए आप ऋषियों ने एक बात कही है बहुत अच्छी उन्होंने कहा संसार के लोगों वेद दर्शन उपनिषद ऋषिकृत ग्रंथ और सत्पुरुषों का उपदेश सत्य ही होता है परंतु जब तक आप उनमें से कुछ बातों को लेके आचरण में लाके उनका लाभ नहीं देखते तब तक आपकी श्रद्धा उन बातों पर नहीं हो पाती ये लोग संज्ञा में समय क्यों नहीं देते थोड़ा सा लगाते हैं दे दिया तो दे दिया नहीं तो नहीं आगे बढ़ते बढ़ते कहां चले गए कहते थे हमारी संज्ञा छूटी हुई है समय ही नहीं मिलता दूसरा कहने लगा आपकी स्थिति क्या है उन्होंने कहा दो समय करते थे एक समय होने लगी है वो यहां पहुंच गया अब बताइए जो सबसे बड़ा कार्य था उसको तो छोड़ता जा रहा है और नीचे से नीचे कार्य टेलीविजन इधर उधर के गप्पे मारता कितना समय व्यर्थ खर्च करता उल्टे कामों में इसका समय पर्याप्त होता है पर इन कामों के लिए नहीं होता स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बात कही सत्या प्रकाश के दूसरे समोल्लास में उन्होंने कहा जो व्यक्ति एक बार किसी के सामने चोरी जारी मिथ्या भाषण कर देता है जीवन भर उसका विश्वास नहीं होता कितना बुरा काम हम तो इसका सहन नहीं कर सकते नहीं कर सकते और ये व्यक्ति सारी बातें सहता है मुझे आश्चर्य यह होता है कि ये लोग दिन भर झूठ बोलते दिन भर लिखते दिन भर सब कुछ करके सायकाल खा पी के सो जाते और प्रातःकाल वही झूठ सरकप का प्रयोग होता दर्द कुछ नहीं पीड़ा कुछ भी नहीं इतने उपदेश होते हैं टेलीविजनों में कितने होते हैं आकाशवाणी में देखो विचित्र अवस्था एक और चित्र बनाया और ये कहा देखो ये शराब बड़ी विनाशकारी है ये लिखा हुआ और ये व्यक्ति स्वयं कारखाने खुलवा खुलवा करके अरबों रुपए की ये शराब चल रही है भारत में और लोगों में लोगों को पागल बनाया जा रहा है इससे बढ़ के झूठ का प्रचार क्या होगा यथा राजा तथा प्रजा वो बाहर के आडंबर में ये दिखाना चाहता है उसकी नीति जो शराब के विरोधी है उनको प्रसन्न करना चाहता है समझ गए नहीं समझ गए जब ये प्रश्न उठाए जाते हैं वो उनको प्रसन्न कर लेता है हम तो लगे हुए इसके शराब के विरोध में वो जो पीने वाले हैं और जिन्होंने धनवान बनना है उन लोगों को ठीक रखने के लिए अपने परिवार को संपत्तिशाली बनाने के लिए और पीने वाले को राजी करने के लिए राजगद्दी में जाने के लिए शराब जानबूझ के बेचता है ये लज्जा रहित जीवन बस में लिखा हुआ है वो चालक बैठा है पान निषेध है स्वयं वो रेल की उसकी तरफ लगा लगातार चल रहा है भले व्यक्ति तुझे लज्जा आती है यानी कोई शर्म है यानी दुनिया में इसकी शर्म लज्जा समाप्त होगी मनुष्य नहीं रहा इसको पशु कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए एक बस में मैं बैठा वो वो दूसरे अपने स्वतंत्र बसें होती हैं और वो पी रहा और कोई चला रहा था लिखा हुआ था ऐसे मैंने कहा देखो आपने लिख तो रखा है और जो पीते स्वयं जाते हो आप तो उल्टा बोलने लगा वो ये है वो है मैंने कहा देखो कुछ भी है ये बुरा है लिखते तो नहीं कम से कम वो कुछ भला व्यक्ति था उसने कहा कि बंद करता हूं ये सारा का सारा पहला दोष है विद्वानों का सन्यासियों का उपदेशकों का अध्यापकों का सबसे अधिक दोषी दूसरे दोषी है राजा गद्दी वाले तीसरे दोषी है धनी लोग और चौथे दिन तो के पीछे चलते रानी मक्खी की तरह रानी मक्खी के पीछे सारी मक्खी चली रानी मक्खी है तीनों की तीनों इसके पीछे चौथे चलते चौथे कौन है हम्म। ध्यान दो ये चालाकी नहीं चलेगी ये छल कपट नहीं चल सकता यदि ये चलता है इससे व्यक्ति विकसित होता है यदि यही चीज है तो घोषणा कर देनी चाहिए अमृत में जयते न सत्या उल्टा करो यदि ऐसा है और नहीं तो इसको उखाड़ के फेंको अब कम से कम व्यक्ति एक और तो हो जा वो कथा इसके साथ जुड़ी हुई है लाहौर के छज्जूराम भगत दुकान करते थे बताते हैं और अपने विवेक भूषण जी की तरह या किसका नाम लू आपकी तरह कपड़े सुंदर पहने हुए जा रहे बताते हैं और लाहौर की घटना है गली में से आए पहले माताएं बहने मैं त्राणी जिनको हम बोल देते हैं ये अपना कूड़ा क्रिकेट का झाड़ू एक तसला उसला लेकर के गली में से आई गंदे सेड़े कपड़े और सेठ जी शोर से चले आ रहे हैं और कहती है सेठ जी एक तरफ हो जाओ सेठ जी ने क्या सोचा कहा था कुछ और दृष्टि से शेख जी ने अर्थ लगा लिया और दृष्टि से गंदे कपड़े झाड़ू तसला टट्टी उठाने वाली आ रही है भीड़ी गली है ये सुंदर कपड़े पहने हुए सेठ जी आ रहे हैं जो गब्बई खाता ले हुए दुकान की ओर बढ़ रहे हैं ये एक तरफ हो जाएंगे तो बच जाएंगे उसने कहा ये कहती है शेठ जी तू दुनिया भर की झूठ बोलता दिन भर थकता दुनिया को और एक राम राम भजन करता और ये भक्ति या तो, तू भक्ति मारे पकड़ ले भले व्यक्ति या तू ग्राहकों को लूटा कर दिन भर उनका बात ये ऐसी कह रही है बताया उसी दिन के पीछे छज्जू राम जी ने सबको छोड़ दिया और सारे झूठ छकलब छोड़े और वो छज्जू राम महान छज्जू राम भगत के नाम से सिद्ध हो गए एक बड़ी मोटी भाषा में ये हमारे हरियाणा के जो भजनोपदेशक थे ना वे एक टुकड़ा बोला करती थी आपको गुजराती को अच्छा गुजराती हरियाणा की मिलती हुई है बहुत सी बात पानी पानी को बोलते हैं क्यों जी क्या क्या वाक्य था वो <laughs> वो भाषा में बोलते थे गांव की भाषा थी भाई चुभ जाती है बात मर्द के चहे ना मर्द के सेल घसोले जी <laughs> क्या समझे आप बताओ है जी वीर जो है व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है उसको बात चुप जाती है इस लालची लोभी छली कपटी को से कोई भला मार दे तो भी नहीं चुप जिस आधार पर वैदिक परंपरा टिकी हुई है वैदिक जीवन टिका हुआ है वो है सत्यमय जयते और याद रख लेना ये छल कपट अधिक चलने वाला नहीं है गदर होता आ रहा है और यदि इसी को ये माने रहे धर्म तो आज अत्यंत विनाश होगा बड़े से बड़ा व्यक्ति उपदेशक है ये अध्यापक है या सन्यासी भी क्यों न है या गृहस्थी है या ब्रह्मचारी है दिन भर झूठ बोलता लेखक है लिखता कुछ है और करता कुछ है मंच की भाषा दूसरी और व्यवहार की भाषा दूसरी अंग्रेजी का वो आता है ना वही विद्यालय में तो किसका सिर मास्टर जी का सिर और घर पर पिताजी का सिर और क्या था वो हेड क्या माई हेड माई हेड पिताजी का सिर अब विद्यार्थी को बड़ी मुश्किल पड़ गई हेड का क्या अर्थ है <laughs> तो ये देखा कि विद्यालय मतलब अध्यापक का सिर और पिता का सिर घर में ये इनकी ये दुकानदारी इन लोगों की उपदेशकों की ये लेखकों की अध्यापकों की सन्यासियों की बड़े बड़े मठदारियों की यदि झूठ में जीत है तो यही विधान बना दो अमृत की जीत होती है भाइयों अमृत की होती है श्वेता जी दोनों की होती है अब ये ये बात उस बात को सिद्ध करती है ये पंचतंत्रकार जो था राजनीति वाला इसने लिखा है एक बार पंचायत चल रही थी पक्षियों की वो बड़े रोचक वो बनाता है और भाई अपने अपने में कहने लगे तुम कौन सी जाति में हो क्या हम पशुओं में वो कहने लगे तुम कौन सी हम पक्षियों में और एक चमकीदर को कह लगे तुम कौन सी हम दोनों में बताओ क्यों दोनों में बोलो पता चलेगा क्योंकि हम पशु भी हैं और हम पक्षी भी ये चिमगादड़ ये चिमगादड़ बोल रहे हैं भाई झूठ भी बोलो सत्य भी बोल लिया करो झूठ भी बोलो हम दोनों हैं अंदरितवादी भी और सत्यवादी ये चिमकी दिल का वो क्षण भी होते हैं जो बकरी के होते हैं और पंख भी होती है जो कौए के होती है इसलिए दोनों जाति में चला गया वो ये दोनों जाति में जाएगी बच्चे ही बच्चे भी एक पहचान बता दी क्यों वो दूध देती है अतः अच्छा, दूध पशु भी देते हैं ये तो मोटी एक ही बात से समझ आ गया क्यों नहीं नहीं, नहीं देखे कभी तो उसके तल ये दूध देती है जैसे बकरी और भेड़ दूध देती है और गऊ दूध देती है और उड़ती है तो कौआ भी उड़ता है चिड़िया उड़ती है अब तो दोनों में पक्षियों में तो पक्षी है और पशुओं में अब तो ये तो पशु भी है पक्षी भी है यूं कहो फिर या तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं यदि सत्य में होते ऐसी बात हो तो सत्य ही बोलो सत्य ही करो सत्य ही करो नहीं अंग्रेज को छोड़ो ये किसको बहकाना चाहते हो आप कौन बहकेगा इसे इतना मूर्ख संसार नहीं है जितना आप इनको बनाना चाहते हैं मूर्ख बनाता घूम रहा है झूठ दुनिया भर की बोलता है कि भाइयों सत्य बोला करो अब बताओ कौन मानेगा इसकी इन सारे के सारे झूठवादियों ने वे दर्शन उपनिषदों को मिट्टी में मिला के रखी ये राजा लोग हैं राजा लोगों ने तो छुट्टी ले रखी है जितने बुरे काम कर रहे हो और उसके पीछे राजनीति शब्द जोड़ दो सारा पुण्य हो जाता है भाइयों सुनो अमुक व्यक्ति ने निर्वाचन इस क्षेत्र से निर्वाचित होकर के काम करने का उत्तरदायित्व तो लिया था और मैं इतने दस पंद्रह बीस काम पूरा करूंगा और कालांतर में पांच वर्ष के पीछे उसने एक दो भी नहीं किया होगा शायद तो वो कितने थे बीस थे अठारह थे उसके लिए आपने तो घोषणा की थी कि मैं बीस काम पूरे करूंगा मुझे उठाओ निर्वाचित कर लो वो कहता भाई ये दुख बात इसमें मेरे मेरा दोष कुछ भी नहीं क्यों राजनीति में कोई पाप लगता ही नहीं किसी से जाके पूछ लो जब झूठ बोलनी और बुलवाना हो भाई भाई को भी खत्म कर रहा हो क्योंकि राजनीति में कोई पाप नहीं तो सारा अनर्थ या फिर ये संविधान के बनाने वाले अत्यंत झूठे छली कपटी व्यक्ति सबको से झूठ बुलाते और सब स्वयं अपना प्रयोजन सिद्ध करते इसलिए न राजा का भला हो रहा है न प्रजा का भला हो रहा है अब ब्राह्मण वर्ग की यही स्थिति है राजाओं की यही स्थिति है और गृहस्थियों की यही स्थिति है ब्रह्मचारी की यही स्थिति है इसलिए मानव जाति विनाश को प्राप्त हो रही है और इन यम नियमों को ठुकराने की हुई जहां तक मैंने सोचा विचार किया अध्ययन किया है पूरा बौद्धिक स्तर पर वेद दर्शन उपनिषद पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि लौकिक सुख को ले लीजिए और आत्मा परमात्मा से आबद्ध मोक्ष सुख को ले लीजिए दोनों की सिद्धि सत्य से होती है झूठ से हो नहीं सकती इस परिणाम पर पहुंचा और ये कितने अरबों लोग हैं ये ये मान के चलते हैं कि सत्य की हार होती है सत्य से हानि होती है और झूठ से बड़े लाभ होते अच्छा मुझे ये बताओ ये जो रिश्वत लेते हैं दूसरा दूसरे से थकते हैं सभी विभागों में अच्छा कोई ऐसा विभाग मिलना मिल जाएगा जिसमें ठहराने जाता हो दूसरे को बोलो हाँ जी अच्छा कौन ठगता है दूसरा दूसरे को ठगता है ठगा कौन जाता है बोलते रहो मेरे साथ रहो ठगता कौन है एक दूसरा दूसरे को ठगता है ठगा कौन जाता है बचता कौन है ठगने से फिर मूर्ख लोग अपने को ठग रहे और वो अपने ठगे जा रहे और ठग रहे और दोनों बुद्धिमान मान रहे आश्चर्य की बात तो ये है ये थानेदार ये प्रिंसिपल और ये रेलवे विभाग वाला विद्युत विभाग वाला विद्युत विभाग वाला जो रेलवे विभाग वाले को खा रहा है रेलवे विभाग वाला विद्युत विभाग वाले को खा रहा है बताओ कौन ठगा गया जब रेलवे में जाते आपने देखा एक एक दिन में कई कई हजार खा जाते हैं काला सा कोट होगा और सफेद सा होगा बाल ऐसे होंगे चिकना चोपड़ा होगा आशा की किरण दिख रही है कि बड़ा अच्छा दिख रहा पर इतना जहरीला होता बिच्छू भी नहीं होता दो सौ पांच सौ पांच सौ ले लेते हैं पांच सौ की बात तो छोड़ो पता नहीं कितने देता एक आदि समझी विचार के थे रेल में सारा बता डाला उन्होंने होशंगाबाद में सारी कथा कहानी सुना दी रेल हालत यह है एक कथा सुनाई जाती है समझाने के लिए कल्पना की कथा होती है समझाने के लिए ये सोचना नहीं कि बिच्छू बोलते बिच्छू की पंक्ति जा रही थी और किसी ने पूछा भाई तुम्हारा तुम्हारे अंदर सरदार कौन है नेता सरदार कौन है एक बिच्छू ने कहा तू हाथ लगा के देख दे वही सरदार सारे सरदार हैं अपने आप बिच्छू की तरह काट रहे हैं ये पढ़े लिखे लोगों की हालत मटकट गया आरक्षण हो चुका था होशंगाबाद का अब स्टेशन पर चले गए तो कहां लौट के जाए गाड़ी निकल जाएगी सिपाहियों से पत्र भी लिखवा लिया कि भाई इनकी टिकट रह रही है पर दया नाम की चीज उनके पास में नहीं भेड़िए मरून में अंतर तो था नहीं भेड़िया थोड़ी बुद्धि से काम लेता वह कई भेड़ियों जितना काम लेते मैंने कहा मुझे नंबर तो बताओ कोई नाम भी होगा आपकी सूची में कुछ तो बता दो कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं मैं जाऊं अगले डिब्बे में चलो चलो चलो बाहर चलो दया नाम की चीज इनके पता नहीं कहां चली गई भेड़िए से पहले डरते थे लोग आज इनसे भेड़िए के पैसा अधिक डर इतना भयंकर व्यक्ति का करूर स्वभाव गरीबों को न्यायालय में मक्खी को जैसे मकड़ी चूसती है ऐसे चूसा जा रहा सीधे सत्यवादी या धार्मिक अच्छे लोगों को इतना चूसा जा रहा है आज की कथा सुनते ही रोंगटे खड़े होते जाके देखो कार्यालयों में न्यायालय के पास में जाके देख लो यदि किसी के दस पंद्रह हजार लाख रुपए भी चुराए गए चोर का नाम भी मिल गया है तो भी ध्यान देना उसके बीस हजार लाख रुपए भी चुराए गए हैं यदि मुकदमे के माध्यम से न्याय लेना चाहेगा तो लाख और खर्च हो जाएंगे और पांच वर्ष लग जाएंगे वहां का वहां लुटपुट के बैठ जाएगा यह अन्याय हो गया है या नहीं <clears throat> ये झूठ का परिणाम ये लाखों ऋषि हुए महर्षि दान सरस्वती जी ने ये अल, अलग बात कर दीजिए बाल्यावस्था में उनसे भूले हुई होंगी कमजोरी से हुई होंगी हुई पर आगे चल करके जो उनका जीवन आया है अपने स्तर पर आया है तो उनके जीवन में झूठ छल कपट का पक्ष लेकर लड़ना या अपनी पक्ष की पुष्टि करना या असत्य से विमुख हो जाना ये दिखाई नहीं देता सत्यार प्रकाश की भूमिका और जो मंतव्या मंतव्य भूमिका दूसरी अनुभूमिका में जब शब्द पढ़ते तो रोंगे खड़े हो जाएंगे आप एक बात मैंने कही याद रखना मनसा वाचा कर्मणा एक होना गली कथनी में एक ये अलग विषय रह जाएगा कि इसके प्रयोग करना सीखना जरूरी सत्य के प्रयोग करने जिसको नहीं आते वो सत्य बोलता हुआ भी हानि उठा लेता है उसको बोलना नहीं आता <laughs> कई लोग तो <laughs> जाए कूद के अपमानित करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए सबके बीच में कहेगा ईश्वर के व्यक्ति भी ये दोष है तो कहेंगे नहीं या मत बोलो या दूसरा स्तर है अलग से समझा नहीं मैं सत्य कहता हूं तो इसके लिए एक बात ध्यान देने के सत्य का प्रयोग कैसे करना चाहिए पर सत्य का प्रयोग का यह मतलब ही नहीं कि जूसर का देना चाहिए <laughs> यह भी इसका अर्थ नहीं लेना कभी भी सत्य बोलने का अर्थ ये ढंग से बोलने का अर्थ ये मत कर लेना कि थोड़ा सा इसमें झूठ मिला देना चाहिए नहीं नहीं आप कल्पना करो एक व्यक्ति शराबी है पी रहा थक्त है और पागल जैसा होने जा रहा है दूसरी शीशी खोल रहा हम देखते हैं कि इसको बताएं या नहीं बताएं और पता चल जाए मेरे सिर में मारेगा शीशी तो वहां उपदेश नहीं देना चाहिए अब तो समझ में आ गया अपना सिर फुलवाने के लिए उपदेश देना क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए हमने बहुत लोगों को विफल देखा प्रयोग नहीं करना आता वो कहता मैं तो सत्यवादी पहले तो जानता नहीं सत्य को फिर उसका बोलने का ढंग नहीं फिर उसका प्रयोग नहीं करना आता सत्य का रटा लगाता रहता ये वो अंश आ रहा हूं जो सत्य की डींग मार करके भी प्रयोग करने में और जब कभी आपत्ति काल आती है वो भी झूठ बोलता है एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सुनाई अब कितनी बातें मैं सुनाऊं आपको थोड़ी सी योजनाओं का भी थोड़ा सा भाग रखना चाहिए समझ रहे आपको सुनाया गया है हम ये चाहते हैं ऐसे ऐसे विद्यालय पंद्रह बीस सौ पचास भी क्यों नहीं हो भारत में और कितने भी होंगे उतना ही हम वेदों की रक्षा धर्म की रक्षा वैदिक धर्म की रक्षा कर पाएंगे हम इस विशुद्ध वैदिक धर्म सत्य को बचा पाएंगे और ये योजना है और ये भी आपको विदित है लोगों को बुरा लगने वाला लग सकता है हमारी बुद्धि के अनुसार हमने जो योजना बद्ध कार्य चलाया आर्य विकास के अधिकारी और हमने मिलकर और भारत भर के लोगों ने इसमें सहयोग दिया और इसमें कितने विद्वान तैयार हुए योग विद्या का प्रशिक्षण आदि आदि सारे को मिलाते हुए ओट में हो सकता है कोई विद्यालय हम नहीं देख पाए पूरे भूगोल में अब तक इस पद्धति इस शैली ये परंपरा ये ऋषियों की मान्यता कहीं भी मानव निर्माण की आपको दिखाई नहीं दे पाएगी वो तो बताएंगे हम मानेंगे नहीं इन बातों को कौन छूता है यदि से चौथी तक झूठ का परित्याग सत्य का बोलने का लिखने का साधारण भाषा में हंसने में बोलने में खाने में पीने में लेने में देने में पूरा का पूरा इसमें आदर्श में प्रयोग करें इस विद्यालय का वर्षण योग विद्यालय का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना कराना है दूसरा देश मात्र नहीं ईश्वर प्राप्ति के नाम से उल्टा अर्थ कोई करने लगे तो उत्तर दे देना ईश्वर प्राप्ति करना यदि व्यक्ति का लक्ष्य है तो वो व्यक्ति महान है और उस जैसा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता ये कभी उल्टा सीधा बोला जाता है देखिए योग नाम से ढोंग है योग नाम से क्या होता है वीरता भी होनी चाहिए योग वीरता का निषेध नहीं करता वो अपनी जगह पर वीरता है रहेगी पर बिना योग को हाथ में लिए और लक्ष्य बनाए बिना व्यक्ति पतित हो जाएगा वो ठहर नहीं सकता किसी भी स्तर पर मुक्ति को लक्ष्य बना के चलो आपको यमनियम में का पालन करना पड़ेगा ये इतना पतन क्यों हुआ समाज का राजा लोग कहां चले गए उपदेशक सन्यासी कहां पहुंच गए ध्यान देना इन लोगों का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं रहा ईश्वर को प्राप्त करो मोक्ष को प्राप्त करो और करवाओ ये लक्ष्य जब नहीं रहा तो मानव की स्थिति बिल्कुल दूषित हो गई यदि मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य होता तो ये पतन कभी भी नहीं हो सकता जो आज भयंकर हुआ आप सब जानते हैं उनको दोहराने की बात नहीं है जब धार्मिक क्षेत्र में जब इतनी घटना सुनते हैं तो व्यक्ति अंदर से रोने लगता है ये क्या हो गया ये व्यक्ति धन के लिए जीता है क्या ये गद्दियों के लिए जीता है क्या आश्चर्य होगा नीचे से लेके ऊपर तक गद्दी और धन से ये भोग से इस व्यक्ति को समाज क्या कहेगा आर्य समाज को क्या हानि हुई धर्म का ऊपर क्या धक्का लग गया कोई लज्जा नहीं कोई शर्म नहीं लज्जित तो व्यक्ति धार्मिक हो रहे क्यों हुआ उसको मूल में ध्यान देना इन लोगों का किसी का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है मोक्ष प्राप्ति नहीं है केवल ऐसा पूर्ति करना ऐसा भी अन्याय क्या समझ में आया एषणाओं की सीमा कुछ इच्छाएं होती है लौकिक पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशणा वो सीमित रह के व्यक्ति जब चलता है तो झगड़े नहीं होते कदर नहीं मच जाता जब दूसरे के छीनी जबकि चलती है दूसरे के मान को छीनता है दूसरे के धन को छीनता है और अपना सम्मान करना चाहता तब यह कदर होता है यदि कुछ सीमा होती मान की धन की तो इतना कदर नहीं मचता ये अशीम है कोई धर्म की इसकी दृष्टि नहीं है देखिए एक व्यक्ति एक लाख रुपया देता है दूसरा पचास तीसरा पच्चीस चौथा दस कोई एक हजार भी देता है सबको सम्मान मिलना चाहिए लौकिक दृष्टि से ठीक बात है पर हजार रुपया देने वाला उस दस हजार और पचास हजार वाले को ठोकर मारता और उसका मान को छीनना चाहता है आपने देखा होगा लाख वाले का सम्मान वो छीनना चाहता है ये अत्यंत अन्याय जब होने लगा तो कोई ठिकाना व्यक्ति का नहीं रहा ये ऐसा क्यों हुआ इसलिए हुआ इसने तीन ऐषणाओं को लक्ष्य बनाया था तीन ऐषणाओं को लक्ष्य बनाने से बीमारी आई है यदि मोक्ष लक्ष्य होता ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य होता तो यह पतन नहीं होता उच्च कोटि के व्यक्तियों का निर्वाचन कर लो दस को यहां बुला लो विद्वान हो सन्यासी हो और आपस में बात करवाइए दस का दस के ऊपर विश्वास मिलना अति कठिन है या नहीं बाहर भीतर से दस व्यक्ति मिलकर कहेंगे हम एक है बाहर भीतर से ऐसा अत्यंत कठिन है भूगोल में ये रोग इतना भयंकर तो ये क्यों हुआ उसका लक्ष्य विपरीत हो गया ये जो भौतिकवादी है केवल भोगवादी है और वैज्ञानिक है इनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति नहीं भोग प्राप्ति है जिस किसी प्रकार से भोगों को भोगो नास्तिक लोगों का भी यही है ये भयंकर हमारे जीवन का घातक ये लक्ष्य उल्टा बन गया ध्यान दो लक्ष्य बदला ध्यान देना दूसरी बात विद्वान बनना तत्ववेता बनना भौतिक विज्ञान आत्मा परमात्मा का विज्ञान पढ़ के हम विद्वान बनेंगे ये लक्ष्य ठुकरा दिया गया विद्या का लक्ष्य केवल रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान ये इनका नारा बहुत उछल उछल के बोलते कुत्ते के देखोड़े की मांग को लेके कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान और मांग रहा है हिंदुस्तान बस बकरी बकरी की कथा करने वाले ये क्या मतलब ये सारा का सारा ईश्वर को ठुकरा करके धर्म को ठुकरा के वेदों की परंपरा को ठुकरा के मानव जाति को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना सारी की सारी चल रही है तो ध्यान देना दूसरा जो दोष आया है वो आया है आत्मा परमात्मा से आबद्ध है और भौतिक विज्ञान दोनों विद्याओं का विद्वान बनना ये लक्ष्य लोगों का नहीं रहा है बस रोटी कपड़ा मकान कमाओ और केवल विद्या का मतलब इतना ही है ये लक्ष्य भी हट गया तीसरी बात और तो सुन लो व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति कभी ध्यान नहीं दे पा रहा आदर्श रूप में यम नियमों का पालन नहीं करता यम नियमों को प्रत्येक व्यक्ति ठुकरा रहा है आपको आश्चर्य होगा छोटे छोटे बच्चे पांच या सात वर्ष के बच्चे बड़ी योजनाबद्ध झूठ बोलते हैं और इतने तक कहने के लिए तैयार है कि झूठ के बिना काम नहीं चलता ये पांच छह सात वर्ष के बच्चे बच्चियों की बात सुना रहे हैं कार में बैठे हैं देहरादून की बात है एक बच्चा है सात का हो सकता है छह का हो सकता है हम तो सबसे बातचीत करते हैं बूढ़ा हो बच्चा हो बूढ़िया भी हो कथा छेड़ देते मैंने कहा बच्ची ये बता भाई कभी झूठ तो नहीं बोलना पड़ता बच्चे का हृदय थोड़ा सा बूढ़े से तो अच्छा ही होता होगा योगा वैसी बूढ़े को नहीं कह रहा जो सांसारिक बूढ़े उनकी चर्चा है समझे या नहीं समझे आप सोचने लगे प्रत्येक बूढ़ा झूठ बोलता होगा नहीं योगा वैसे की बात छोड़ो बालक ने हृदय कहा झूठ बोलना पड़ता है मैंने कहा कि छोड़ नहीं सकते नहीं छोड़ने से मेरा काम नहीं चल सकता ये पांच सात वर्ष का बच्चा कहता ये स्थिति बच्चे की है कल्पना कीजिए कहां गया है मानव उपदेश सारे धरे धराए रहेंगे पोथियां लिखी लिखाई रहेंगी कागज छिड़ जाएंगे ये मानव जाति नष्ट वर्ष हो जाएगी यदि यही प्रवृत्ति रही अवकाशवाद सिर पर आगे बैठ चुका है करना उसको तो कर लो डूबे बिना नहीं रहो बिल्ली सामने खड़ी है आंख मीच के कबूतर की तरह गर्दन दे दो या आंख खोलो और बिल्ली का आक्रमण कर दो कौन सा करोगे दयाली जी सो मत जाना क्या करोगे और ध्यान नहीं था तो उत्तर नहीं दे पाए संगठित होकर आक्रमण करेंगे पर याद रखना पहला आक्रमण अपने ऊपर करना आप में जितनी झूठ छल कपड़े भरी हुई है उसको पहले उखाड़ो बोलो बात खड़ा करो आक्रमण अपने अध्ययन पर अपने अन्याय पर अपने बुरे आचरण पर मिथ्या उपासना पर आपने करना है फिर दूसरे की ओर उंगली उठाना अन्यथा आजकल के जो नेता उपदेशक आकाशवाणी वाले अपने घर में आग लग रही है और आग लगाई जा रही है दूसरे की आग बुझाने की बात कर यहां से आरंभ होगा ऋषि ने एक बात कही व्यक्ति पहले अपने दोषों को देखे और दूर करे फिर दूसरे के दोष बताए अनिधिकार चेष्टा चल रही है लगातार स्वयं झूठ से भरा पड़ा है एडी से चोटी तक पसीने पसीना को उपदेश देता है और ये स्वयं झूठ सड़क से भरा हुआ व्यक्ति ये किसकी दूर दूर करेगा आप किसी की योजना सुन लीजिए एक आध व्यक्ति को छोड़ो जो योजना सुनाई जाएंगी आकाशवाणी में जो बड़े बड़े जन समुदाय में सुनाई जाएंगी आपके हृदय में बात आएगी ये बड़ा चालाक व्यक्ति है जो योजना सुना रहा है योजना बहुत अच्छी अच्छी सुनाएगा सारा उल्टा मिलेगा तो मैंने बात सुनाई याद रखना मोक्ष प्राप्ति करना कराना लक्ष्य छोड़ा भोग केवल इंद्रियों के भोग प्राप्ति करना कराना उद्देश्य बना दूसरी बात अंग उपांग भौतिक विज्ञान को साथ जोड़ो महान तत्ववेता बनना है ये लौकिक जो उपलब्धियां होती है ये कौन मानी जाती थी जो मिलेगा सो मिलेगा मान मिलेगा यह अलग बात है जीविका चलती रहेगी व्यक्ति तत्ववेता बनना चाहता था आत्मा परमात्मा को जान के भौतिक विज्ञान को लेते हुए वो महान वैज्ञानिक बनना चाहता था उसको छोड़ दिया केवल ये भोग के लिए केवल रोटी कपड़ा मकान याद रखना गुरुकुलों की विफलता का एक कारण उनमें से निश्चित है अनेक कारण उनमें क्रम उपलब्धि ध्यान देना गुरुकुलों के साथ में जीविका को जोड़ दिया क्या समझ में आया न्याय समझ में गुरुकुल में पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य बना दिया रोटी कपड़ा मकान कमाना और फिर सरकार से संबंध जोड़ दिया उसका अब तो गुरुकुल का विनाश हो गया विद्वान नहीं बन पाए आज भी स्थिति वही धारावाहिक बह रहे हैं ये बात अलग है सारा मत समझना कि गुरुकुल सारे एक जैसे ऐसा नहीं बहुत से गुरुकुल बहुत अच्छे एक भाग बहुत से गुरुकुल औरों से बहुत अच्छे <laughs> ये दो भाग ये तुलना तो करो तो भूल मत कर रहा हूं बहुत अच्छी बात है परंतु जोश कर रहना था जो स्थिति बननी थी विद्वान बनने थे सन्यासी बनने थे योगी बनने थे वो नहीं बन पाए सीधी सी बात करूंगा बिल्कुल सीधी ऊपर से अधिकारी और नीचे के विद्यार्थी जानबूझ के नकल करते और करवाते अब बताओ क्या करोगे कौन मानेगा किसकी ये चीजें कहां उतारी जाएंगी तो ध्यान देना वहां पर यह चीजें हटा दी गई गुरुकुलों में जीविका नहीं चलानी थी जीविका का साधन मान के गुरुकुल में पढ़ना पढ़ाना नहीं करना था तत्ववेता तो बनना है विद्वान बनना है चाहे तो गृहस्थी हो आगे चलकर उसको सब कुछ मिलता है सारी चीजें मिल सकती हैं कोई कमी नहीं रहती ये उद्देश्य हट गया और केवल जीविका के लिए गुरुकुल चलने लगे फिर उसका जीविका होते ही अनुचित राजनीति से संबंध होने लगे राजनीति वाले जो करते हैं आप जानते हैं वो वहां से चला तो मोड़ आते आते यहां तक आ गया नीचे से देखे ऊपर तक नकलें चलती है व्यापक पूरे भारत में ये नहीं एक दो विद्यालय एक आध विद्यालय कोई बचा हुआ हमारी दृष्टि में नहीं आता उसको छोड़ दीजिए ये सब जगह होता है जितने परीक्षा होती है तो कितने सिपाही खड़े होते हैं आपने देखा नहीं देखा और घरवाले की कितनी भीड़ होती है वहां घरवाले संबंधी होगी ये देखा आपने अन्याय के ऊपर तुले हुए लोगों का ये काम ये इसलिए हुआ जीविका है धन टका धर्म टका कर्म टका एव परमम पदम इस गृह टका नास्ती हा टक पर ये नहीं कहना दिमाग से स्वामी जी तो ये नहीं जानते कि धन के बिना काम नहीं चलता मैं धन का निषेध नहीं करता संपत्ति का निषेध नहीं करता भौतिक विज्ञान का नहीं करता पर अनुचित बातों का निषेध करता हूं अनुचित धन अनुचित संपत्ति अनुचित भौतिक विज्ञान घातक है हानिकारक है इसको छोड़ना पड़े ध्यान दो ये सारी की सारी स्थिति ये जो इन्हें विद्यालय है ये दर्शनों की विद्या अब मैं वो सुनाता हूं आज से दस वर्ष पहले की घटना है शरीर मेरा अस्वस्थ हुआ मुझे पता चला शरीर तो कल रहेगा या नहीं रहेगा ये विद्या लुप्त न हो सारे दर्शनों को छह दर्शनों के दिग्गज विद्वान बनाओ ये योग विद्या लुप्त न हो जाए ढूंढते ढूंढते ये सारी खोज करते करते करते करते लंबी बात नहीं कह के आर्यवन विकास के अर्जुन भाई वहां पीछे बैठे होंगे साथ ऐसे ऐसे मेरा संबंध हो गया अर्जुन भाई एक दिन वहां मिले <laughs> बड़ौदा में टंकारा में चला था कुछ हो गया था परिचय ये हमको ये दिखाया वो दिखाया हमारे पीछे पीछे घूम रहे मैंने कहा ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है अपना काम छोड़ छाड़ के हमारे पीछे लग रहा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गए तो एक बार यहां शिक्षण शिविर बनाया ये मकान वकान कुछ नहीं था जंगल था उसके पीछे अगली योजना चलते चलते बनी और मैंने योजना बनाई थी जल्दी से जल्दी क्षण दर्शनों के विद्वान तैयार किए जाए ये ब्रह्म विद्या सिखाई जाए शरीर का कल का पता नहीं है जट योजना बनाई और योजना बना करके अर्जुन भाई यहां बैठे मुझे जहां तक याद है उन्होंने कितना कुछ आर्थिक सहयोग एकदम जुटाया एक लाख रुपए के लगे और हमने तो यही करना था मकान चाहिए भोजन घी दूध हमने घी दूध की छुट्टी कर दी छुट्टी आज तक भी होगी या कमी आ गई वैसे की वैसी हाँ यथास्ती तथा यथाशी तथा और ये ध्यान देना मेरा जहां तक दिमाग काम करता है इस रूप में आजीवन में बताने रहने वाले आचार्य शास्त्री एम ए बी और सारा का सारा जीवन अवधि के रूप में देने वाले और ब्रह्म विद्या झांसी की जा रही हो और एक पैसे का संबंध घर से ना हो न पत्र व्यवहार हो उनको देश जाति के लिए तैयार किया जा रहा हो हमने आर्य समाज के इतिहास में ये रूप नहीं देखने को मिला बहुत बड़े बड़े काम हुए सामाजिक ढंग से हुए होंगे उनका निषेध नहीं है ये दृष्टि जो है इस दृष्टि से मैं बोल रहा हूं मेरी बात समझिए नहीं समझे किसी को भ्रांति नहीं होनी चाहिए सरकप का प्रयोग मत करना मेरे वाक्यों को लेकर के मैं वही भी शुद्ध परमाणु से सिद्ध बात को कहता हूं तो ये जो स्थिति है ये सारा वातावरण बनता आया और ये स्थिति आज तक हम यहां पहुंचे यदि इसी प्रकार की योजना इसी प्रकार के गुरुकुल मैं सिद्धांत की दृष्टि से यदि हम जितने अधिक आगे बना सके उतना बनाओ और माताओं का की चर्चा आई थी इंदु जी ने बात सुनाई थी ये हमारे दिमाग में है और हमने योजना भी बनाई है और कहीं कहीं के परीक्षण भी किए थोड़े परीक्षणों में माताओं में शक्ति बल त्याग नहीं कम है इसलिए वो नहीं चल पाया ये स्थिति है त्याग नहीं तपस्या नहीं योग्यता नहीं इसलिए इनका विद्यालय चलना कठिन है संभव कुछ नहीं चलाएंगे तो चलेगा त्याग करना पड़ेगा इतना परिश्रम करना पड़ेगा घर को छोड़ना पड़ेगा आहुति देनी पड़ेगी तब विद्यालय चलेगा कन्याओं इसी ढंग का जो यहां चल रहा है और चलना चाहिए ये ब्रह्मा कुमारियों की स्थिति देख लीजिए हजारों की संख्या में एमए ए पीएचडी आदि कितनी सुव्यवस्था और कितने साधन जुटे हुए हैं कल्पना नहीं कर सकते आप यहां से देखे कर्नाटक तक उनके विद्यालय उपस्थित हो रहे हैं और सारा का सारा उल्टा है वैदिक परंपरा से आप बैठे बैठे देख रहे हो ध्यान दो हमारी योजना में एक साधना मैंने बनाया न्यास ध्यान देना ये विद्यालय वो विद्यालय जो चलता है और भी जो ब्रह्मचारी इनको पढ़ते हैं उनके लिए हमने विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास की स्थापना की उसमें इतने लाखों की जो आय निधि में की उसका ब्याज जो चलता है वो सारा का सारा ब्रह्मचारियों के लिए विद्यालयों के लिए गुरुकुल में पढ़ने वालों के लिए गेदू दादी के लिए उसका सारा प्रयोग होता रहता है साहित्य में उसका सहयोग मिलता है और गरीबों का भी थोड़ा सा भाग उड़ीसा में जाते हैं कभी तो हमारा कर्तव्य बनता है बेचारियों के कपड़ा नहीं सिर पे नंगे लक्कड़ जैसा शरीर बूढ़ा बूढ़ी आके खड़े हो गए पूरी भीड़ लग गई वहां जाके कुछ आउटी अन्न बांटने की भी दे देते हैं कि कुछ हमारे न्यास की ओर से भी लगाओ गौशाला को हमारे दूध पीते हैं उसमें भी हमारे प्रयोग उसमें भी होते हैं और याद रखो आजकल करोड़ की राशि बनाना कोई बड़ी बात नहीं योजना पर दीदी बंबई के लोग कल्याण दे आ रही है और अपने वो बैठे मामा शाह नाम वाले वो और भाई प्रताप जी दिल्ली के बैठे एक छह सात आठ व्यक्ति नगरों में दस दस कट्ठे होकर योजना बनाई तो दो चार करोड़ इकट्ठे करना इनके लिए कोई कठिनाई नहीं एक करोड़ ही मान लो कई करोड़ मत कहो वो न्यास की राशि एक करोड़ बना देंगे अब हमारी वो चौदह है अब तेरह लगभग तेरह उससे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं चलते रहते हैं और हम निर्भर रहते हैं कि बाहर चिंता का विषय नहीं बनता इतना तो करेंगे ही और मिलेगा तो और करें इसके लिए सीधी बात कहता हूं कि काम ऐसे करोगे तो होगा कर नहीं तो नहीं होगा छोटा होगा यदि ये लोग मिलकर एक करोड़ रुपया बना दें उसको प्रताप जी अध्यापक दिल्ली की ओर से कल्याण जी आ रही बंबई की ओर से और अपने कलकत्ता की ओर से अपनी सत्यनारायण जी ये तो केवल संकेत है जिनको मैं जानता हूं आप मुझे सारे के सारे संकेत के बागी हैं इनका मैं अच्छी तरह जानता हूं यह बुरा भी नहीं मानते होंगे शायद है जी मेरी बात को भी समझते होंगे तो इसने मैंने संकेत किया ये कोई बड़ी बात नहीं आज करोड़ रुपया क्या है आगे के एक छोटा सा मकान नहीं समझे आप एक एक कोना एक एक बम्बी की कोठी में जाके देखो एक पर अरबों रुपया भी ज्यादा होता हो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता ईट पत्थरों पर ईट पत्थरों पर ईट पत्थर ईट पत्थरों पर ईट पत्थर उसके ऊपर लोहा और तांबा उसके ऊपर कार और कुआर मनुष्य का जीवन जीर्ण हो गया भारत की जड़ें कट रही है बाहर भीतर के लोग आक्रमण कर चुके हैं और ये व्यक्ति ईट पर ईट रख रहा है ईट पर ईट ईट पर ईट ईट पर ईश्वरी का झूठ छल कपट का ठिकाना नहीं जब झूठ कर सब कपट चलेगा तो संगठन नहीं हो पाएगा याद रखना थोड़ी देर के चोरों की तरह हो सकता है <laughs> थोड़ी देर में बिगड़ भी जाएगी चोर चोरी करते थे तो मिलके करते डाका डाक देते डाका मिलके डालते ये डाके चोरियों का तो थोड़ी देर की प्रेम हो सकता है बिना सत्य के बिना त्याग के बिना निर्विमानता के बिना सेवा भाव के संगठन नहीं जम सकता याद रखना कहने की बातें सारी नहीं जमेगा अगला व्यक्ति वो नेतृत्व करता है वो आहुति देने के लिए तैयार है स्वयं सब कुछ सह जाता है पीछे वाले को चोट पीछे लगी पहले उसको लगेगी ऐसे व्यक्ति आहुति देने वाला जो आगे आगे खड़ा होगा वो सत्यवादी भी होगा वो त्यागी तपस्वी भी होगा निष्काम कर्मी होगा पर लक्ष्य उसका ईश्वर प्राप्ति होगा केवल ऐसा प्राप्ति नहीं रोग ये आया जो नेता दो आके खड़े हुए लाल लाल कपड़े हुए पगड़ी वाले हुए बिना पगड़ी वाले हुए कोई भी हो लोगों ने कहा ये बहुत बड़े लोग हैं हाँ ये तो पता नहीं क्या उठ के आ गया उमड़ के आया क्योंकि तो थोड़े से दिन हमारे समाज आकाश में उठता दिखेगा थोड़े दिन हम देखा तो वो उसकी टांग पकड़ रहा है वो उसकी टांग आर्य आर्य समाज की टांग के साथ के नीचे घिसरा दी अब बताओ क्या करोगे किस पर विश्वास करोगे आप विश्वास का स्तर ही नहीं छोड़ रखा लोगों ने और ये पीछे वाले ऐसे लोग हैं तू करे तो मैं करूं मैं राजा का जब करूं अब भले हो गए इतने दिन देख लिया देख लिया अब तो हट जाओ इसके पीछे से फिर उसी के पीछे मारा धक्का कि ये तो गड़बड़ फिर कहता नहीं जी गड़बड़ कुछ नहीं गड़बड़ ऐसे नहीं गड़बड़ कुछ नहीं हुई अच्छा चलो मैं तेरे पीछे हूं फिर आया तीसरा नंबर करे मैं अब भी तेरे पीछे हूं भेड़ की तरह पीछे चलता जाता अरे डूबता जाता अरे ये नहीं सोचता तू किस भेड़ के पीछे चल रहा ध्यान दो एक और संकेत दिया है यदि इस राशि को हम ऐसा बढ़ाएं करोड़ों में पहुंचा देंगे तो ऐसे ऐसे विद्यालय कई चल सकते और उसके माध्यम से हम इस काम को करेंगे हमारा परीक्षाओं से कोई संबंध नहीं है नौकरी से कोई संबंध नहीं है धर्म देश जाति वेद की रक्षा वैदिक संस्कृति की रक्षा करनी है भारत की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है उर्दे संप्रदायों को